उनकी कौम के सरदार जो बड़ाई के घमंड में थे कहने लगे ऐ शुएब हमने पक्का इरादा कर लिया है कि हम तुम्हें और तुम्हारे साथ तमाम ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे वरना तुम सबको हमारे दीन में वापस आना पड़ेगा शुएब ने कहा अच्छा अगर हम तुम्हारे दीन से नफरत करते हों तब भी